करोड़ों लोग हर साल इंडिया आते हैं अलग अलग कंट्रीज से घूमने के लिए क्यों आते हैं वो घूमने के लिए नंबर वन ताजमहल देखने के लिए हर कोई ताजमहल तो देखेगा ही देखेगा और किस लिए आते हैं वो इंडिया किस लिए आते हैं एक्सपीरियंस एग्जैक्टली किसने बोला ये हाँ बिल्कुल सही जी एक नई दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं सच है झूठ है या वही देखने के लिए आ रहे हैं जो वहाँ पर भी है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या वो शॉपिंग मॉल घूमने के लिए आ रहे हैं शॉपिंग मॉल <laughs> तो उनके पास भी है यहाँ से बेटर ही है वो किस लिए आ रहे हैं कुछ ऐसा देखने के लिए जो उनकी सोच से परे हो एक एक्सपीरियंस के लिए तो जहां भी आप रहते हो मान लो किसी गांव में रहते हो या गांव में आपके कुछ रिलेटिव रहते हैं अगर वहां पर आप उनके लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट करो इसको आप बोल सकते हो विलेज टूर और उसमें एक पैकेज बना दो कि पर पर्सन पचास डॉलर का यह पैकेज है दो लोगों का सौ डॉलर का पैकेज हो गया अब वहां पर आप करोगे क्या कुछ नहीं वो जो सब कुछ अवेलेबल है आपको कुछ भी खरीदना नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है investment is zero in this business model क्या किया एक गांव में जाकर के जहां पे आपके नाना नानी रहते हैं मान लो अब वो लोग आपस में जान पहचान है ही वहां पे लोग हैं ही कोई खेती बाड़ी कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है अगर वहां पर उनके पास में बैलगाड़ी भी होगी क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ट्रैक्टर आ गया है इंडिया में अभी भी बैलगाड़ी चलती है अब हमारे लिए बैलगाड़ी कुछ भी नहीं है आपके सामने से निकल जाए आप कहोगे ये क्या है एक फॉरिनर को ले जाकर के बिठा दो बैलगाड़ी पे पागल ही हो जाएंगे वो ये क्या हो रहा है उनके लिए वो किसी एडवेंचर पार्क से कम नहीं है एक राइड है उनके लिए वो पूरी की पूरी तो आपका जो पैकेज है विलेज टूर का उसका एक पार्ट क्या है बुलक कार्ट राइड क्या मुश्किल है इसमें one cooking session in traditional Indian kitchen जहां पे फूक मार मार के काम होता है और क्या होगा खेतों में ले जाओ खेतों में ट्यूबवेल में नहला दो अरे पागल हो जाएंगे वो लोग आपको आपको मजाक लग रहा है ये सब पागल हो जाएंगे वो इस एक्सपीरियंस के लिए अरे गोबर के उपले वो बनवाओ उनसे अगर उनको बहुत ज़्यादा हाइजीन का वो है तो उनके लिए ग्लव्स ले लो पहले ही कर सकते हो नहीं कर सकते तो उनको दोनों ऑप्शन दे दिए with gloves without gloves with glove चाहिए तो उसका दस डॉलर एक्स्ट्रा है you want gloves no problem only ten dollar ये सब एक्सपीरियंसेस हो गए और सोचो इन्हें सारे एक्सपीरियंसेस की वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और वो वीडियो आप सब जगह पे अपलोड करो मतलब जैसे ही कोई इंडिया के लिए ऐसा कुछ करने का सोच रहा है आप क्या कर सकते हो ध्यान से समझना इस पूरे एक्सपीरियंस की आपने वीडियो बना ली किससे बनाई अपने मोबाइल से ही बना ली जैसे ही आपके पास में एक वीडियो आ गई ये जो बातें हमने करी अभी ये सारी इमेजिनेशन है तब वो रियालिटी बन गई कि फॉरिनर्स एक्चुअल में ट्यूबवेल में नहा रहे हैं फॉरिनर्स एक्चुअल में बुलक कार्ट में बैठे और एक्चुअल में उनको मजा आ रहा है सर फीडबैक भी ले सकते हैं हम लोग उनसे फीडबैक भी ले सकते हो एक्जैक्टली exactly, उनके टेस्टिमोनियल्स ले सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको कैसा लगा अब आपके पास में कुछ बहुत तगड़ा आ गया हाथ में इतना तगड़ा जो अभी आपको खुद भी उसकी शायद वैल्यू नहीं पता है अगर ट्रिप एडवाइजर पे आप इसको लिस्ट कर दो ट्रिप एडवाइजर पता है साइट है और ऐसी और भी बहुत सारी साइट्स हैं जब भी कोई बंदा किसी तरह की कोई वैकेशन प्लान करता है इंडिया में या कहीं पर भी वो बंदा डालता है वहां पर जा करके सर्च करता है what are the top things to do in this area है ना to be done to be done to तो वहां पर आपका लिस्ट होता चला जाएगा वहां पर भी एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन होते हैं अगेन डिजिटल मार्केटिंग बीच में आ गया कि जैसे ट्रिप एडवाइजर में कोई भी सर्च करे कि इंडिया में क्या एक्सपीरियंस यूएस में बैठ करके वो सर्च कर रहा है यूके में बैठ के सर्च कर रहा है वहां पे आपका एक्सपीरियंस आ रहा है और बुक ऑनलाइन वो ट्रिप एडवाइजर के थ्रू बुकिंग हो जाएगी मतलब मान लो पंद्रह बीस परसेंट वो अपना काट के बाकी पूरा एट्टी परसेंट आपका है तो अगर एक बंदे का आपने पचास डॉलर भी रखा अमाउंट तो ये कुछ भी नहीं है और एक बार अगर आपको अच्छे रिव्यूज मिल गए वहां पे अब खेल क्या चलता है ट्रिप एडवाइजर पे ऐसी सारी वेबसाइट्स पे रिव्यूज का सारा खेल है कि आपके रिव्यूज कितने बढ़िया है रिव्यूज कब बढ़िया होंगे जब उन्हें एक्चुअल में अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो हम घूम फिर के कहां गए एक्सपीरियंस पे आ गए काम पे आ गए पैसे से हट गए अगर काम आपने ये वाला बढ़िया कर दिया तो अगर बढ़िया एक्सपीरियंस दे दिया तो उनको मतलब वहां पर वो गए और उनको कमाल का एक्सपीरियंस हो गया मजा नहीं आ जाएगा वे लोग रिकमेंड भी करेंगे सर आगे ऑब्वियसली वो लोग रिकमेंड भी करेंगे आगे और रिकमेंड नहीं भी करते तब भी अगर एक बार आप ऑनलाइन इन प्लेटफॉर्म्स पे आ गए जहां पे फ्री में आओगे वहाँ पे आने के कोई पैसे नहीं लगते हैं जो मैं बता रहा हूँ ना ये वाले जो ट्रिप एडवाइज़र है ये है वहाँ पर आप सारी इमेजेस डाल सकते हो कि अच्छा ये ये एक्सपीरियंसेस हैं वीडियोस भी डाल सकते हो अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो उसकी भी मार्केटिंग कर सकते हो उसके अलावा जो यूएस यूके में लोग काम ही यही करते हैं कि वो वहाँ से इंडिया लोगों को लेकर के आते हैं उनसे आप टाइप कर सकते हो क्योंकि कोई भी अकेला आदमी सब कुछ नहीं करता है जैसे आप यहाँ से कहीं बाहर जाते हो फॉरेन घूमने के लिए तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लोगों से टाइप्स होते हैं उनके हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है वो जो बंदा यूएस में यूके में बैठा है उसको अगर ये विलेज टूर वाला एक्सपीरियंस देना है अपने लोगों को वो कैसे देगा क्या यहाँ पे गांव में आएगा लोगों से टाइप करेगा किसी को जानता नहीं है कैसे करेगा तो आप उसके पार्टनर हो गए आप उसके लोकल पार्टनर हो गए समझ गए नहीं समझे उनको आप ईमेल के थ्रू फोन के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि हम इस तरह का कुछ करते हैं अब उनको कॉन्टैक्ट करने से पहले आपके पास में वीडियो होनी चाहिए वीडियो प्लस इमेजेस फोटोग्राफ्स भी आ गई उन एक्सपीरियंसेस की और वीडियोस भी आ गई और आपकी एक साइट बन गई अब यहां पे आपको ई कॉमर्स स्टोर नहीं चाहिए एक स्टैटिक वेबसाइट चाहिए जो पांच सौ रुपए महीने में तैयार हो जाती है क्योंकि इन लोगों को कॉन्टैक्ट करने के लिए आपके पास में कुछ होना चाहिए दिखाने के लिए एक ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए तो इन लोगों को अगर आप कॉन्टैक्ट करते हो तो यहां पर कितना पैसा आपको मिल सकता है कुछ आइडिया है जो लोग यूएस से यूके से आ रहे हैं वो कितना पैसा खर्च के इंडिया आ रहे हैं पैदल तो नहीं आ रहे फ्लाइट से आ रहे हैं फ्लाइट की टिकट कितने की है प्लस आना जाना रहना खाना पीना कितना पैसा लग रहा तो एक बंदे से अगर आप सौ डॉलर भी लेते हो तो क्या बहुत बड़ा अमाउंट है सौ डॉलर क्या होता है कुछ भी नहीं है जी एक एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए प्लस वहीं पे उनको स्टे भी दे दो ना एक रात का एसी ना सही कूलर लगा दो बढ़िया सा छत पे सुला दो विद बहुत बढ़िया छत पे सुलाएंगे और प्लस क्या करेंगे वहां पे एक ऐसा वो लगाएंगे कूलर जिसमें से हवा के साथ पानी भी आए खुद आप सो के देखना वहां कोई मच्छर अच्छर तो नहीं काट रहे मच्छर काट रहे तो बढ़िया सी मच्छरदानी लगा लो मतलब कुछ बेसिक दिमाग आपको दौड़ाना होगा तो ये आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हो गया वेल प्लान है सब कुछ और उनका पूरा ध्यान रख करके फिर आपने सोचा कि कहीं उनको ये खाने से इन्फेक्शन ना हो जाए यहाँ पे रुकने से कोई मच्छर अच्छर ना काट लें ये वो सारा आपने पहले से अच्छे से प्लान करके अगर इसको किया है तो एक बंदे से आप कितना चार्ज कर सकते हो वन नाइट टू डेज का पैकेज हो गया ना एक तरीके से तीन चार सौ कम से कम पांच सौ डॉलर पर पर्सन ये कुछ भी नहीं है उनके लिए कुछ नहीं है इस 500 डॉलर में से अगर आपने मानो 200 डॉलर उसको दे दिया जो आपका ट्रैवल पार्टनर है जो बाहर से उसको बंदे को यहां लेकर के आ रहा है क्योंकि एकदम से आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा ना उन लोगों को बट उनपे तो ट्रस्ट है उनका वो ट्रैवल एजेंट है उसके थ्रू वो पहले दस बार दस जगह जा चुके हैं समझ गए और किसी न किसी रेफरेंस के थ्रू उस तक पहुंचे हैं आपका उससे टाइप हो गया मतलब हर 500 डॉलर पे 200 डॉलर आपने उनको दे दिया अगर कोई डायरेक्ट आपसे बुकिंग करता है ट्रिप एडवाइजर के थ्रू तो 500 डॉलर आपको मिल रहा है तो कितना कमा सकते हो यहां से आप मान लो आपका मार्जिन 300 डॉलर भी हो गया 200 डॉलर आपने उसको दिया 300 डॉलर प्लस इसमें आपने कॉस्ट भी लगा दी सब कुछ बढ़िया से बढ़िया आपने किया तो 100 डॉलर और हटा दो पर पर्सन का बहुत ज़्यादा मैंने लगा दिया वैसे क्योंकि वहां जहां भी जिस गांव में करोगे वहां उनको भी तो पैसे देने होंगे ये थोड़े सारे खुद ही जेब में डाल लोगे उनको भी मजा आ रहा है क्योंकि वहां पे उन लोगों को काम मिल रहा है जैसे जैसे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं तो हो सकता है वो गांव पूरा का पूरा यही काम करने लग जाए उनका क्या जा रहा है एक बंदे पे मान लो सौ डॉलर उन गांव वालों को मिला करके मिल रहा है कम होता है क्या और दो डॉलर आपको मिल रहा है दो डॉलर उसको मिल गया तो दो डॉलर मतलब चौदह हजार एक बंदे पे चौदह हजार अगर आप मान लो महीने के सौ बंदे भी आते हैं तो कितना हो गया चौदह लाख रुपए महीने का अब ये मत समझने लग जाना कि इसको शुरू किया और दस दिन बाद ही एकदम से इतने बंदे आ गए चौदह लाख हो गए ये बेवकूफ़ों वाली सोच है ऐसा नहीं होगा ये मैं बात कब की कर रहा हूँ साल दो साल तीन साल बाद इस काम को आप कर रहे हो बहुत छोटे लेवल से शुरू कर रहे हो शुरू में दो चार लोग आ रहे हैं पाँच आ रहे हैं किसी महीने में नहीं भी आ रहे हैं प्रैक्टिकली समझ गए शुरू में बट जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस बढ़िया होता चला जा रहा है लोगों को मज़ा आता चला जा रहा है और रिकमेंडेशन बढ़ती चली जा रही है उधर से आपके चैनल पार्टनर्स बढ़ते चले जा रहे हैं कितने ट्रैवल एजेंट्स होंगे वर्ल्ड वाइड लाखों हैं उन लाखों में से कुछ तो आपको मिल ही सकते हैं कितने चाहिए आपको लाखों चाहिए हजारों चाहिए दस भी हो जाए तो बहुत है उनके थ्रू सौ बंदे अपने आप ही पूरे हो जाएंगे समझ गए और प्लस ये है शुरुआत इस काम को करने की क्योंकि ये दो तीन साल बाद भी जो मेरे को नजर आ रहा है ना चौदह लाख रुपए महीना ये कोई एंड नहीं है ये एक्चुअल में शुरुआत है अगर आप समझोगे तो अगर एक्चुअल में टीम भरती चली जाए और ये चीज स्प्रेड होती चली जाए धीरे धीरे over a period of time क्योंकि ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है कोई भी ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है टाइम लगता है ना पांच साल दस साल बाद क्या हो सकता है किस लेवल पे ये गेम जा सकती है अगर उनके लिए एक तगड़ा एक्सपीरियंस है तो अब आप में और एक फाइव स्टार होटल में कोई फर्क नहीं है आप एक तरीके से एक फाइव स्टार होटल के मालिक हो यहाँ तक समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे फाइव स्टार होटल कैसे पैसा कमाता है वहाँ पर लोग आते हैं रुकते हैं उनको पैसा देते हैं ऐसे तो पैसा कमाता है ना फाइव स्टार में क्यों रुकते हैं वन स्टार होटल भी तो है वहां क्यों नहीं रुकते फाइव स्टार क्यों गुड एक्सपीरियंस इधर उधर क्यों जाते हैं लोग ट्रैवल क्यों करते हैं एक्सपीरियंस तो ये क्या है जो आप दे रहे हो उनको एक्सपीरियंस ये क्या एक गांव की बजाय आप और गांव में नहीं कर सकते एक गांव में जो आपने इस मॉडल को किया उसको क्या और गांव में आप रेप्लीकेट नहीं कर सकते अपनी टीम नहीं बढ़ा सकते हो और हर गांव की कल्चर भी तो अलग अलग होती है हर गांव का कल्चर अलग अलग है क्या अलग अलग गांव को क्लब करके आप एक पैकेज नहीं बना सकते हो एक हो गया यूपी का गांव एक हो गया राजस्थान का गांव दोनों गांव अपने आप में बिल्कुल अलग अलग है अब आपके पास में ऑप्शन है कि आप इन दोनों का पैकेज भी ले सकते हो इन पैकेज को भी आपने इंटेलिजेंटली प्लान किया है क्योंकि आपको पता है उसने ताजमहल तो जाना ही जाना है समझ गए तो उसके आसपास में ये गांव है तो वो एक हो गया आपका कि वहीं से आपको दो घंटे के डिस्टेंस पे या एक घंटे के डिस्टेंस पे आप वहां चले गए फिर वहां से वापस दिल्ली आ गए फिर दिल्ली से आप जब राजस्थान गए तो वहां पर ये रास्ते में एक गांव है एक रात आप वहां पर रुक गए तो स्मार्टली उन्हीं की आइटनरी में या उनका जो भी प्लान है ट्रेवल प्लान है उसी में इंटीग्रेट हो जाएगा ये दोनों एक्सपीरियंसेस एक एक्सपीरियंस है पांच डॉलर का दोनों मिला करके गए हजार डॉलर का लेकिन अगर आप दोनों लेते हो तो इसका पैकेज है साढ़े सात सौ डॉलर का पैकेज बन गया ना आप दोनों ही ले लो पैकेजेस यहां पर ये होने वाली है पांच एक्टिविटीज यहां पर ये पांच एक्टिविटीज होने वाली है ये अलग है वो अलग है यहां का कल्चर अलग है वहां का कल्चर अलग है क्या इस तरह से नहीं सोच सकते yes, और आने वाले टाइम में इंडिया की जो भी अलग अलग जगहें हैं क्या वहां पर सब जगह आप इस तरीके से टाइप नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल आप साउथ इंडिया में जाओगे तो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते वहां पर किसी लोकल बंदे को अपने साथ में जोड़ना होगा जिसकी गांव में एक्चुअल में जान पहचान तभी ये काम हो पाएगा तो अलग अलग जगह आप लोकल बंदों को जोड़ते चले जा रहे हो अपने साथ में और अपनी टीम बढ़ाते चले जा रहे हो कहां जा सकता है काम कोई लिमिट नहीं है इसका कोई नाम होगा नाम क्या अच्छा सा आ रहा है माइंड में किसी के आ रहा है अनसीन इंडिया या unexplored India soul of India हाँ soul of India that could also be soul of India but समझ गए अनसीन इंडिया यहां पर क्या हो रहा है अब इसी नाम से आपका यूट्यूब चैनल है मतलब ऑनलाइन भी सोशल मीडिया पे पूरी प्रेजेंस है तो वहां पर बैठे बैठे उनको ऐसी वीडियोस नजर आ रही होंगी क्यों आप मार्केटिंग कर रहे हो experience India like never before unseen India call us for more information और वहां पे आप वहीं का लोकल टोल फ्री नंबर ले सकते हो यहीं बैठे बैठे एक वेबसाइट है टोल फ्री फॉरवर्डिंग वहां पर आप अगर महीने का दस डॉलर देते हो तो आपको यूएस का टोल फ्री नंबर मिल जाता है उस पर कोई कॉल करेगा तो कॉल आपके पास इंडिया में यहां पर आएगी पता है सब बातें नहीं पता है नहीं पता होगी कितनों को नहीं पता है हाँ, आज पता लगी ना मजा आया ना तो दस डॉलर में आपको मिल गया परसेप्शन क्या क्रिएट हो गई उनके माइंड में तो पता नहीं कितनी बड़ी ट्रैवल एजेंसी है कि यूएस में भी इनका ऑफिस है तो ट्रस्ट बिल्डअप हो गया ना तो इस तरह से अगर आप करते हो तो किस लेवल पे जा सकते हो कोई अपर लिमिट है ही नहीं और एक गैप है ये बहुत बड़ा जिस गैप को आप जाकर के पूरा भरने वाले हो